को देख करके देवता भी ललचते हैं परंतु ये सारी संपत्ति वही वैभव पुत्र न होने के कारण मुझे अच्छी नहीं लगी कि तो महाराज आप कृपा कीजिए कि लो इसमें क्या लगता है कृपा करने तब मुनिश्चरम चरम सकरित का त्वस्तारम आयोजक त्वस्ता देवता के योग चरण का निर्माण करके और उन्होंने उसका निर्वपन कराया यजन कराया और यज्ञोच्छिष्टम गृहिता सर्वस्त्री नाम ज्येष्ठाई कृतिक दुर्ग नाम ने पत्नी नाम उसको दिया यज्ञ का जो श्रेष्ठ प्रसाद है वो सबसे बड़ी वाणी थी जिसका नाम था कृतक किसी को दे दिया उसने गर्भ धारण किया समय आने पर पुत्र पैदा हुआ ब्राह्मणों को बुला करके उसने जातकर्म संस्कार कराया धैर्य नाम शरद ब्राह्मण तो यहां संख्या छह अरब गौरव बना उपार्जन के लिए जैसे जल की वर्षा होती है ऐसे धन संपत्ति की वर्षा लो जिसको जो चाहिए तो ले जाओ और इतनी बात हुई कि राजा की प्रीति रानी कृतज्ञ में मैं देखो उसी के घर आता जाता क्योंकि उसका बालक उसके और स्त्रियां जो थी और राजा तो हमको दासी के समान भी हमारा आदर नहीं करता तो अब वो कृतक द्वितीय जो बड़ी रानी है उससे देश करने लगी सब एक हो गई मिल गई आज और तो सबने मिल करके दुष्ट बुद्धि से उस बच्चे को विष दे दिया कुमारा गर्म बन और जुटी तो ये जानती नहीं थी ये ऐसा भी करेंगी का मेरे साथ बच्चा उस दिन बहुत देर तक सोता रहा जब नहीं उठा तो भाई को भेजा रहे देख तो सही बच्चा क्यों नहीं उठ रहा क्या बात भाई ने जाकर देखा तो, तो आंखें उसकी फटी हुई है शरीर नीला पड़ा हुआ है उसे देख करके अरे हताश नीति शब्दम करता मैं तो मारी गई ऐसा कहकर के वहां पछाड़ खाकर के गिर गई रानी ने उसका रुदन सुन करके दौड़ करके गई और देखा कि पुत्र मरा पड़ा तब तो वो मुक्त पेशा सकी रानी भी उसके सिर के बाल खुल गए और भूमि में प्रसाद खा करके गिर गए सारे नर नारी वहां उपस्थित हो गए रुदन होने लगा और जिन्होंने विष दिया था वो और ज्यादा रोने लगे सपत्न्यश्च ने तुम्हें दुख पिता सकते हो रोज ये नहीं मालूम होता था इनको दुख कम है कोई बच्चे के मरने का उनको पूरी हो रही राजा को जब खबर पड़ी किसी ने जाके कहा महाराज जो आपके पुत्र हुए थे वो तब तो नहीं रहे ये सुन करके उसकी आंखों की ज्योति चली गिरता पड़ता वहां आया जहां पुत्र मरा पड़ा है वहां पचाड़ खा करके गिर गया और रानी ने देखा पुत्र की ये दशा है हमारे पति की ये लगा है तो बार बार से पीट पीट करके रो रही है पूर्णी भी उस स्वर्ण चित्र होगा हे विधाता और विधाता को सोचते हैं जब कोई होते हैं अब वो विधाता स्वमति अरे वो विधाता विधान बनाने वाले अरे तू मूर्ख मालूम होता है अरे माता पिता के रहते रहते अगर ऐसे बच्चे मरने लगेंगे तो तेरी सृष्टि कैसे चलेगी अपने पुत्र को संकेत करके कहती है वो बेटा उठो देखो ये छोटे छोटे बच्चे तुमको अपने साथ खेलने के लिए बुला रहे हैं हे नटनंदन तुम्हें भूख लगी होगी अच्छा तो स्तनम पे हो लो तुम मेरा दूध पी लो हाँ, मेरे शोक को दूर करो मैं आप तेरा मुस्कुराता हुआ मुख नहीं देख रही हूं तेरी तोतली वाणी सुनाई नहीं पड़ रही है क्या तू ऐसी जगह चला गया कि जहां से कोई लोग नहीं लौटते हैं तभी पुनरागमन न भविष्य तथा वतोषी क्या तुम ऐसे स्थान में चले गए जहां से कोई लौट करके नहीं आए इस तरह से वहां सबके सर्वगम कर रहे थे और वो जो बलराम देवी गए थे अंगरा महर्षि उन्होंने कहा भाई हमारा सेला हमारा हमारा भक्त इस पुनरागमन किए अच्छा हम उसे आशीर्वाद देते आए सर नारद जी को और साथ लिया उन्होंने नारद जी को साथ लेकर के अंगरा महर्षि आए और आकर के बोले राजा रामोचित पड़ा था अरे पूरन साहब कर राजेंद्र वो राजा ने ये कौन है जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो हाँ? और तुम चार सकतना तुम इसके क्या लगते हो तुम्हारा ये कौन पूरे रानी अरे ये तो चार पांच वर्ष का है चार पांच वर्ष पहले से तुम्हारा क्या संबंध था और अब इससे क्या संबंध रहा अरे जैसे नदी के वेग से बालू के कण आपस में मिलते रहते हैं अलग होते रहते हैं ऐसे प्राणी आपस में कितनी बार मिलते हैं कितनी बार अलग होते हैं अरे इसमें क्या एक धान से एक बीज से दूसरा बीज पैदा हो जाता है एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा होता है अरे तो भगवान की माया है देख बयान से पंच व्यंचन ये चेने तुल्य का राज कर हम तुम ये सब जितने दिखाई देते हैं ये क्या है कि जन्म से पहले ये कहां थे और मरने के बाद ये कहां जाए सब एक दशा बयंच पंच ये नीचे में तुल्य कालास्तरा जन्म मृत्यु ये पश्चात जन्म के पहले भी नहीं थे ये शरीर मरने के बाद में ये शरीर नहीं रह गए ऐसे इस समय भी नहीं है दिखाई दे रहे हैं केवल जन्म मृत्यु यथा पश्चात प्राण अपना भी हो भूते भूतान भूतेश्वर सजत करते हैं जगह ये पंच भावकों के द्वारा भगवान अपनी माया से सृष्टि करते रहते हैं एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा हो जाता है जैसे एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है और इसलिए क्या हुआ जब ये उपदेश किया तो उस समय तो सिर्फ केतु आंसू पहुंच करते विवान ज्ञान संपन्न कौन आज आप लोग कौन है भूल गया पहचान में नहीं जा रहे हम आप कौन है आप अंग्या हैं कि देवल हैं कृष्ण हैं कपूजात हैं महाकंड हैं गौतम हैं वशिष्ठ हैं कि राम हैं कि कपिल हैं कौन है कि दुर्वासा हैं हम्म, कि चवन है कि दत्तात्रेय हैं पतंजलि हैं कौन ऋषि है आपके वचनों को सुनकर के मेरा अज्ञान दूर हो रहा है अतो ज्ञान भी तब कोई लिखा हम जरा बोले तुम हमको भूल गए पहचान मानी अब पहचान भी नहीं गए हो तो तुमने हमसे पुत्र की कामना की थी तो तुमको पुत्र देने हाँ तो वाले हम ही हैं हम अंजरा नहीं और देखो ये नारद जी हैं पुत्र तुम्हें पुत्र तो सुख से दुखी समझ करके हम तुम्हारे पास आए हाँ। अभना पुत्रताम ये आशा सत्यानुभूय थे पुत्र वालों को जो दुख होता है वो तुमने इस समय अनुभव कर लिया ना ऐसे संसार की सारी वस्तु इसी तरह से है वियोग में दुख देती है महिला को सत्यादेव देव नाशवंत हो गया आपका उनको सत्यनाश नाम समझ अतः स्वस्थ मन का आत्मतत्व विचारियो और स्वस्थ मन से शांत मन से अपनी आत्मा का विचार करो और ये जो द्वैत है नाम रूपात्मक इसमें सत्यता की बुद्धि निकाल दो ये सच्चा नहीं है हम त्यज नाराज जी के और देख अब हम तुमको एक दे स्त्रोत्र हम तुमको पढ़ाते उस स्त्रोत्र को तुम याद कर लो और सात रात तक अगर तुम उसका जप करोगे तुम्हें भगवान शंकर सन दर्शन देंगे तुम सिद्ध पुरुष हो जाओ नारद जी ने कौन को जो है इसको किया और उसी समय महात्मा लोग कहते हैं जो अभिराज नारायण जी नारद जी अब नारद जी ने अपना हो वो देश बनाया और उन्होंने और देखो तुम्हारे लिए कैसे रो रहे हैं कैसे दुखी हो रहे हैं भजन से मातरम वितरण से और देखो तुम्हारे सूर्य और बंधु बांधव और देखो तुमको जिन जिन्होंने विष दिया था वो कितनी रो रही है तो देखो कलिगण समावेश शेष आयु सुभद्रता तुम अपने इस शरीर में रह करके अपने पिता के दिए हुए सिंहासन पर बैठो यहाँ के भोग भोगो है जीवात्मा वो बालक होगा वो नारद जी आपका ऋषि है महात्मा है अब मैं तो संसार में ऐसे ही भटकता रहता हूँ कि वो अपना माँ बाप मानू कहां तक मैं कभी गणना करूँ मैं तो रू गया माता पिता कहते कहते कसबुन जन्म जन्म में जन्म करो माँ करो भगवान मेरे अनेक जन्म होते हैं अनेक मेरे माता पिता बन जाते हैं कोई पृथ्वी के परमाणुओं को गिन सकता है पर हमारे माता पिता कितने हुए इनकी गणना नहीं हो सकती मित्राण मित्राण की जीवन भूमि और हमारे कितने मित्र हुए कितने शत्रु हुए इनकी गणना हो ही नहीं सकती संख्या पुनीशो मिलित इनकी हम कहां संख्या कर सकते बोलो मैंने जितनी माताओं का दूध पी चुका हूं अगर इकट्ठा किया जाए तो ठीक सारा बन जाए हाँ। मैंने अपने संबंधियों को रोने के लिए जितने आंसू बहाए हैं वो इकट्ठे किए किए जाए तो खारा समुद्र बन जाए कितना कितना में रोया हूँ कितना कितना तुम्हारा तो यथा वस्तु ने परिणामी भूमाधुनी तटस्थता लेकर जैसे ये रुपया पैसा सोना चांदी ये जैसे दुकानों पर घूमती है वस्तु आज उसने खरीद लिया उसने खरीद लिया उसके पास है आज उसके पास है वो किसकी होती है यथा वस्तु परिणामी हेमा देवी तथा एक एक जो है सरदार लाकर करके सोना चाहने लगे वो वस्तु पर ला करके वो वो उसके यहां से वहां गई वहां वहां से वहां गई वहां से वहां गई वहां से लौट करके फिर वहां आई तो ये वस्तुएं ऐसे घूमती है ऐसे ही ये मनुष्य जो है ये जीवात्मा इन अनेक नियमों में रहना करता है तो महाराज आप मेरे लिए क्या कहते हैं क्या उपदेश करते हैं कि माता पिता को समझाओ एकदम तो भूतर से मन स्माकम संबंध होना तो बालक कहता है तुम मेरे लिए क्यों रो रहे हो भैया हाँ? मेरा तुम्हारे तुम लोगों से कोई संबंध नहीं है हाँ? मैं अपने कर्मों की वो भोगने के लिए छोड़ने के लिए आया मैं अब यहां से जा रहा हूं न तुम्हारा मेरे से कोई संबंध है न मेरा तुमसे कोई संबंध है मेरे लिए तो रोम शोक शोकम मां को और हमारे लिए शोक मत करो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा कहकर के जीवात्मा पर अंतर्दान होगा तब तो सबका स्नेह छूट गया अरे ये तो ऐसी बात है तो उसके कलेवर को जा, ले जाकर के जलाया और वो इस दुनिया जिन्होंने उसको विष दिया था वो पंडितों से प्रायश्चित पूछने लगे पंडित जी बताओ हमने विष दिया था और हमको प्रायश्चित तो बताओ तो पंडितों ने उसका प्रायश्चित तो बताया यमुना किनारे जाते उन्होंने कालिंग्याम स्नात का धर्म करता ब्रह्मपुत्र और नारद जी ने जो उनको वो स्पोर्ट दिया था सात दिन उसने जल पी करके उसका अनुष्ठान किया उस चित्र के लिए उसके प्रभाव से तथा तकते मनोरक्षा श्रेष्ठ से क्रम देवा और तो उसके प्रभाव से उनको सिद्धि प्राप्त हुई और भगवान श्रेष्ठ के चरणों में पहुंचे उनका रक्षण किया मरा कौरम नीलांबरम श्वेत उनका वर्ण था नीला वस्त्र धारण किए हुए थे सिर पर मुकुट था और सिद्धों से आविष्टित थे बहुत दर्शा उनके दर्शनों से उसके वो निष्पाप हो गया उसके शरीर में रोमांच हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे सिर्फ शुरुआत आपका नाम अजित है अजित क्यों है कि आपको कोई जीत नहीं सकता तो वास्तव में आप अजित हैं पर आपको किन्होंने जीत लिया अधिक जिता सममति जी जिनके बुद्धि में समता है ममता नहीं है ऐसे साधु आपको जीत लेते अधिक जिता सममति जी साधु भगवान जिन्होंने अपने मन में से ममता हटा के समता को बुलाए हैं ऐसे साधु संत आपको जीत लेते हैं ये सारा विश्व आपसे उत्पन्न होता है आप इसका पालन करते हैं आप में लीन हो जाए ये अंडकोश ये पृथ्वी आदित्य ये परमाणु के समान आपके शिव पर रखा हुआ मालिक होगा घूम रहा है हे आदित्य ये सनकादित्य ऋषि मोक्ष के लिए आपकी उपासना करते हैं हे भगवान पर दक्षिणा नाम पापक्ष है आपके दर्शन मात्र से जीवों के पाप नष्ट हो जाते अब मैं आपका दर्शन करके कृतकृत हो गए महाराज जी का उपदेश व्यर्थ कैसे जा सकता है भगवान शंकर चंद हो गए अरे राजन हम हमरा नारद जी के उपदेश से तुम सिद्ध हो गए देखो भगवान उपदेश करते हैं तुम सिद्ध हो नाम आम आत्मा संपूर्ण प्राणियों का मैं आत्मा हूं विश्वम मत व्यतिरिक्त नास्ती ये विश्व मेरे से भिन्न नहीं है भोक्त भोगात्मक वयम मैं व्याप्त हूं दो ही प्रकार का विश्व ये भोक्ता है तो इन दोनों में व्याप्त हूं जैसे सोया हुआ पुरुष यथा सुसुप्ता पुरुषो विश्वम पश्य चात्मनि आत्मानेकदेशस्तम मन्यते स्वप्न स्थित जैसे सोया हुआ पुरुष सारे विश्व को अपने में देखता है और आत्मा एक देशत्म क्या संदेश जब आप लोग स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में जो देख रहे हो हजारों आदमी घूम रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी में आप बैठना चाहते हो बड़ी भीड़ हो रही है आप घुस नहीं सकते उसमें बड़ी कठिनता से किसी डिब्बे में घुसे एक कोने में खड़े हो गए बैठने को जगह नहीं मिली परंतु बात क्या है पासपोर्ट में वो इतना वो रेलगाड़ी है और स्टेशन है वो इतने व्यक्ति हैं वो हैं तुम्हारे अंदर ही तो बात कहां है बात तो कोई चीज नहीं जिस जिस संसार को तुम स्वप्न में देख रहे हो वो संसार तुम्हें बाहर कहां मिलेगा न तत्व रथा न रथ युवा स्वप्न में जिस रथ में बैठ के जिस सड़क पर निकले हो वो सड़क में मिलेगी कहीं घूमने का बात नहीं वो है ही नहीं बाहर नहीं है वो वो अपनी में सारी संसार को तुम देख रहे हो परंतु तुम्हें तुम समझ ये रहे हो हम तो ये कोने में खड़े तुम्हें ये जान ही नहीं है कि सारा संसार मेरे भीतर ये बात कह रहे हैं भगवान शंकर कि जैसे सोया हुआ पुरुष सारे संसार को अपने भीतर देखता है और अपने को एक देश में खड़ा हुआ मानता है और ये समझता कि सारा विश्व मेरे भीतर यथा सुकृता पुरुषो विश्वम पश्यति चात्मनि आत्मान देशस्थम मन्यते पिता और फिर इसका तात्पर्य है कि फिर एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा और बद्दी में आराम गया चलते चलते थक गया फिर सो गया और फिर उसने स्वप्न देखा तो स्वप्न में ही स्वप्न देखा फिर और फिर पहले सपने से उठा उठा स्वप्न नहीं उसे जागरूक ना हो इसी तरह से अब हम भी अति सोए हुए हैं समझते हैं हम जग रहे हैं एवं जागरण आदि जीवस्थान से आत्मा माया मात्रा में विद्या है सुख इस प्रकार भगवान ने इस मन को उपदेश दिया ये व्यवस्था होगा वापन वेद देगात्मा सदा जीव जिसके द्वारा निद्रा का सुख जीवो में निद्रायाम निर्गुणम सुखम वेद विद्या के सुख को जिसके अनुभव करता है तम आत्मान मान जाने बात वही जो आत्मा है वही मेरा स्वरूप जागृत सपने उस मृता उनसे सर्व प्रकाशक निर् जाना थी तद ब्रह्म जाना जागृत और स्वप्न जैसे एक मत से होता है कभी नदी के इस पार में आ जाता कभी उस पार में चला जाता ऐसे जीवात्मा कभी जागृत में आता है तो कभी स्वप्न में चला जाता है कभी दोनों को छोड़ करके सुसुप्ति में चला जाता है और इन तीनों को जो प्रकाशित करता रहता है तब ब्रह्म जानी उसको ब्रह्म जाना तब ज्ञान ब्रह्म मनुष्यों ने प्राप्त करके जिसमें ज्ञान विज्ञान हो सकता है उसमें अगर तुमने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना तो फिर तुमको वहां शांति मिले एक आवाज ये मंदिर जो मैं कर बोलती हूं स्वार्थ और ब्रह्मात्मा देव यत्ता के दर्शन 10 युश के भी ઓળખના જાણના છે યતન اپنا સ્વાર્થ પરમાત્મા છેના છે કે જીવાત્મા પરમાત્મા દીકતાનોનો કર લેના اپنا નિયસ સ્વાર્થ પરમાત્મા કરવા નિયોનો છે ઓર ભગવાન સંતાસ અંતર કામ બોલીએ છે तरह से आप तो सिद्ध सिद्ध पुरुष हो गए विमान में बैठे इधर उधर घूमते हैं के तुम्हारा वो घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए वहां बड़ी भारी सभा लगी हुई थी भगवान शंकर बैठे थे पार्वती जी उनकी गोद में विराजमान थी उनको देख करके वो और बोले शिवम दृष्टा दिव्या सुनम पार्वती जी सुन रही थी और उनके सुनते सुनते बोल पहले बड़ा था तो चाहिए हसित्वा जगा दो फिर खिलाते हंसे पहले और प्रचित्र को बोले ओ अयम लोक गुरु और देखो जगत गुरु जी को देखो इनको मैं जगत गुरु कहते हैं साक्षात देवी नाम धर्मवक्ता पांडवों को धर्म का उपदेश करते हैं और इतनी बड़ी सभा में स्त्री को गुरु में लेकर के बैठे वैसे जटाएं तो बहुत बड़ी बड़ी है पर इनको लज्जा नहीं अरे संसारी प्राणी भी स्त्रियों के साथ एकांत में उठते बैठते हैं और ये तो सभा में स्त्री को लेकर के बैठे अयंत सदस्य विद्वती ये सबके सुनते सुनते ये बात तो सुनी भगवान शंकर तो सुनकर के चुप रहे और जितने सभासद थे वो भी चुप बैठे थे तो भगवान शंकर कुछ नहीं कहते हुए हम क्या बोले कोई नहीं बोला भगवती से नहीं जा रहा देवी क्रोधे न तस्मी जगह वो क्रोध में आके अरे क्या इस समय क्या हम जैसे को शासन देने के लिए तेरी नियुक्ति हुई है क्या अपना जो कोयम बंद अपना अस्मदान शास्त्रा के हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए तेरी नियुक्ति की गई है क्या ये नारदादक ये धर्म को नहीं जानते हैं ब्रह्म नारदादय धर्म न जो शास्त्र का उल्लंघन करके वर्तने वाले भगवान शंकर को भी निषेध नहीं कर सकते अरे नीच क्षत्र क्षत्र बंधु शिवम शास्त्री तो भगवान शंकर के ऊपर भी शासन करता है और तुम वैकुंठ में जाने के योग्य नहीं अरे दुर्मते अरे मूर्ख तो जा आसमी योग में चला गया जब ऐसा अपराध तो नहीं करेगा तुम पार्वती ये साफ हो को जो तुमने देखा था कर्म को साफ लग गया तो अब विमान से नीचे उतरे अभी तक तो विमान में बैठ बैठ बैठे हुए थे बोल रहे थे और फिर भगवत जी को प्रणाम करके बोले थे हे अंबिके तब सापम प्रगणना देवी जी आपके साप को भी स्वीकार कर ये प्राणी अज्ञानी है संसार में घूम रहा है सुरगुर बोलता जंतु सुख करता आत्मा करुणा अपने आप में ही सुख दुखता देने वाला है सुख दुख करता आत्मा करुणा कोई सुख दुख देने वाला दूसरा नहीं हो पर मैं ये समझता हूं इस संसार में क्या का साप है और क्या बदला क्या स्वर्ग है क्या नर्क है क्या सुख है क्या दुख है कुछ नहीं है तो संसार मिथ्या है झूठ है ऐसा कह करके और वहां से उस सांप को स्वीकार करके चल मैं सांप से आप सांप से हमको मुक्त कर दो मैं इस इसलिए प्रार्थना नहीं करता बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा करूं ऐसा कह करके और अपना विमान व्यस्त करके चल भगवान शंकर ने कहा पार्वती से देवी भगवान के भक्तों की महिमा हमने देखी वो न स्वर्ग में जाने से डरते हैं नरक में उनके लिए स्वर्ग नरक सब एक सही और देखो वो तुमको साथ दे सकता था बदले में पर उन्होंने तुमको साथ नहीं दिया उसने साथ को स्वीकार कर लिया चित्रकेतु सब तुम समर्थ कि साथ में चित्रकेतु एकावत साथ रखना ये साथ का लक्षण <coughs> वही फिर जो है त्वष्टा की दक्षिणाग्नि से मैं जब हवन किया तो वही वित्रासुर होकर के वही चित्र केतु जो भगवान का वक्त था संकर्षण का दर्शन किया था और वही आकर के फिर वित्रासुर मना तो वो कहां चले जाते संस्कार इसलिए जो बात पूछी थी परीक्षित ने कि ये भगवान का भक्त कैसे बन गया उनके ये भक्त भगवान का भक्त पहले से था चित्रकेतु जो भगवान का भक्त था पार्वती के साथ से ये इस आसुरी में आए क्या भगवान के भक्त चाहे उनकी असुर में चले जाए चाहे नहीं चले जाए सब जगह प्रसन्न रहे वो उनका साधन भक्ति उनका भगत प्रेम सब जगह उनको सहायता है एक बात सुनाते हैं किसी तरह से ये चार भाई जो है सनक सनंदन सनातन तो सनंदन जो है वो आ रहे थे अपने आत्मचिंतन करते हुए मस्ती में तो भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे उनको प्रणाम नहीं किया कनक कुमार जो थे उन्होंने प्रणाम नहीं आत्मदृष्टि से जब देख रहे थे अपना आत्मा ही पार्वती ने देखा तो देखो इसने हमको देख लिया तो नमस्कार नहीं किया पार्वती ने कह रहे हो बड़ा अभिमानी है भगवान शंकर को देख करके इन्हें प्रणाम नहीं किया तू का सूत्र ग्रहण नहीं करा सूत्र सनत कुमार सूत्र जन्म का हो गया फिर एक बार पार्वती को मिले पार्वती ने कहा अरे अच्छे ही अकल ठिकाने आई मैंने भगवान शंकर को प्रणाम नहीं किया था केवल माता जी और तो बड़ा और आनंद है इसमें जब ब्राह्मण दे आओ भोगो तो संध्या वंदन करो तो भाव भाव कुछ नहीं है तो, तो भी झगड़ा कर दिया अरे मैं जाऊं तो बोला ऊट की लोग नहीं चले तो एक बार भगवती को मिले अरे अब देखिए तो कल खिलाने आई क्या माता ये तो बड़ा आनंद है अब तक कच्ची लोनी की जरूरत बात लंबी गर्दन करी और खा लिया अरे तू जिस योनि में जाता है उसमें प्रसन्न रहता है अच्छा बोल रहे हम तेरी उधर प्रसन्न है और कोई हमसे वर मांगे क्या चाह माता जी हमको तो कुछ नहीं चाहिए और तुम भी हमसे कोई वर मांग लो क्या कौन जैसा तुम हमारे पुत्र होकर के उसका मेरे को होकर के कहा तो भगवान के भक्त हैं वो कहीं भी चले जाओ उनको क्या जो भगवान मन लगाया है वो लगा हुआ है किसी योगी ने उनको पहने